दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी पंडित से ही तीक्ष्ण संस्कृत बुद्धि से ब्रह्म जाना जाता है ब्रह्म का ज्ञान होता है कहा गया तत्प्रतिपत्ति उपाय माह तत्प्रतिपत्ति उपाय माह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का उपाय आगे कहते हैं किस प्रकार ज्ञान होगा एवं पुरुष आत्मनि सर्व प्रविलाप्य नाम रूप कर्म त्रयम यन मिथ्या ज्ञान विजृंभित क्रियाकारक फल लक्षण स्वात्म याथात्म ज्ञानेन मरीचोदक रज्जु सर्प गगन मलानीव रज्जु गगन स्वरूप दर्शन स्वस्थ प्रकाश प्रशांतात्मा कृतकृत्य भवति यतो अतस्तदर्शनार्थम किस प्रकार ब्रह्म का ज्ञान होगा तत्प्रतिपत्ति उपाय एवं पुरुष आत्मनि सर्वम प्रविलाप्य ये हो गया था पुरुष आत्मनि सर्वम प्रविलाप्य पुरुष है पुरुषान परं किंचित साकाष्ठा सब को लय करना सब का नियमन करके अंत में सबसे परम सूक्ष्म पुरुष उसको जानना है नाम रूप कर्म त्रय नाम रूप और कर्म ये तीनों है यन मिथ्या ज्ञान विजृंभितम मिथ्या च तद अज्ञानम च मिथ्या ज्ञानम अज्ञान को मिथ्या कहते हैं मिथ्या है राज्य में सर्प मिथ्या है मिथ्या का अर्थ अनिर्वचनीय भी कहा जाता है सत नहीं असत नहीं उभय नहीं उसको मिथ्या कहते हैं बंध्या पुत्र असत है मिथ्या नहीं है सत है ब्रह्म असत है बंध्या पुत्र सस विषाण मुसक विषाण ये असत है तुच्छ है ही नहीं और उभय भी नहीं है इसलिए विलक्षण होने से उसको अनिर्वचनीय कहा जाता है राज्य में सर्प जिस प्रकार मिथ्या है इसी प्रकार अज्ञान भी मिथ्या है अज्ञान भी सत नहीं असत नहीं उभय नहीं मिथ्या च तद अज्ञानम च मिथ्या अनिर्वचनीय भी कहा जाता है प्रपंच को भी मिथ्या कहते ये मिथ्या का अर्थ असत नहीं है सत से विलक्षण असत से भी विलक्षण अज्ञान भी इस प्रकार सत असत उभय से विलक्षण है मिथ्या अनिर्वचनीय अज्ञान अज्ञान विजृंभितम अज्ञान से ही निष्पन्न होता है जगत नाम रूप कर्म क्रियात्मक सारे कुछ अज्ञान का कार्य अज्ञान सा अज्ञान का परिणाम है क्रिया कारक फल लक्षण क्रिया कारक फल करने वाला कारक है क्रिया होती है उसका फल होता है ये यजमान कर्म करता है कारक है क्रिया याग आदि क्रिया फल स्वर्ग नरक आदि याग का फल तो स्वर्ग है पाप कर्म का फल नरक है ये सब जितने क्रिया कारक फल अपने को कर्ता मानता है भोग करता सुख दुख सारे संसार अज्ञान का कार्य है स्वात्म याथात्म ज्ञान न ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति होती है दृष्टांत देते जिस प्रकार भ्रांति होती है अधिष्ठान के अज्ञान से अधिष्ठान का ज्ञान होने से भ्रांति की निवृत्ति होती है ब्रह्म के अज्ञान से ही ये अज्ञान का ब्रह्म अज्ञान का कार्य नाम रूप कर्म सारा जगत का ब्रह्म ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से जिसके अज्ञान से ही प्रपंच दिखता है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है तो रज्जु का यथार्थ ज्ञान से ही अज्ञान रज्जु अज्ञान और अज्ञान का कार्य सर्प उसका कार्य भय कंप सब की निवृत्ति होती है इसी प्रकार स्वात्म तो स्वरूप के अज्ञान से ही स्वरूप ज्ञान तो बंध स्वरूप के अज्ञान से बंध स्वज्ञान नित्य मुक्तता सर्प के ज्ञान से मुक्ति है सात्म याथात्म ज्ञान है ना ज्ञान तो अभी भी है अहम अस्मि कहते समय घटो अस्ति समय कहते समय असद रूप से तो ज्ञान है किंतु घट के साथ मिला करके एकत्व है ये यथार्थ ज्ञान नहीं केवल आत्मा का ज्ञान यथार्थ संशय विपरीत ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती भ्रांति की निवृत्ति होती जिस प्रकार मरीच उदक रज्जु सर्प गगन मलानी वो मरुभ में मरीचिका है जल की भ्रांति होती है मरीच उदक रज्जु में सर्प भ्रम गगन में मल मलिन मल कभी महिला दिखता है तल मलिनता रूप दिखता है आकाश का रूप नहीं किंतु नील रूप दिखता है कटाह आकार आकाश दिखता है ये सब की निवृत्ति होती है अधिष्ठान ज्ञान से मरीचि में उदक भ्रम उसकी निवृत्ति मरीचि दर्शन से मरीचि का जन्म लिया तो जल भ्रम नष्ट होता है रज्जु सर्प में रज्जु ज्ञान होने से सर्प भ्रम नष्ट होता है और गगन का इसलिए सर्प ज्ञान हुआ रूप रहित है ज्ञान होने से नील रूप मल असंग है किसके साथ संबंध नहीं होता है तो मल भ्रम नष्ट होता है मरीचि रज्जु गगन सर्प दर्शन नैव स्वस्थ प्रशांत आत्मा कृत्य कृत भवति स्वस्थ हो जाता है स्वस्थिन तिष्ठति ते स्वस्थ बाहेन्द्र व्यापार रहित तो हो जाता है जैसे वहाँ इंद्रिय से भ्रम होता था नष्ट होता है यहाँ यथार्थ स्वरूप ज्ञान जब हो जाता है बाह्येन्द्र व्यापार रहित तो हो जाता है सारे प्रपंच मिथ्या जब निश्चय हो जाए इंद्रिय से विषय ग्रहण करने की आवश्यकता इच्छा नहीं होती स्वस्थ हो जाता है प्रशांत आत्मा प्रशांत आत्मा यस्य अंतकण शांत हो जाता है मन शांत हो जाता है मन में बहुत विषय ग्रहण करने के लिए वासना है दौड़ता है मन इधर-उधर मिथ्या तो निश्चय जो होता है स्वरूप ज्ञान हो जाता है तो मन शांत होता है कृतकृत्य भवति कृतकृत्य होता है अधिकारी कृतम कृत्यम ये न जो कुछ करना था सो कर लिया और कुछ करने के बाकी नहीं नित्य तृप्त हो जाता है यत इसलिए उसके ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए श्रुति भगवती कहती है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति इसलिए उसके ज्ञान के लिए उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत मतलब उठो जागृत जग जाओ अर्थात सोया हुआ है अज्ञान निद्रा से सोया हुआ तभी कहती श्रुति जागृत उत्तिष्ठतंत्र उठो अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त हो कर्म करो ईश्वर अर्पित निष्काम कर्म अंतकोण शुद्धि हो विविधिशा हो गुरु के पास जाकर श्रवण आदि करके ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो ये उत्तिष्ठत का अर्थ जागृत अज्ञान निद्रा से अज्ञान के अधीन है सोया हुआ उसे जगो प्राप्य वरा निबोधत उसे अज्ञानी की निवृत्ति के लिए वरान प्राप्य निबोधत वरान वरह श्रेष्ठ ज्ञानी को प्राप्त करके उनके चरण में रह करके निबोधत स्वरूप ज्ञान संपादन करो जिससे ये अनादिकाल से संसारित्व भ्रांति की निवृत्ति होती है और यह ज्ञान मार्गे क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया क्षुर के धारा अग्र क्षुर के अग्र निशिता तीक्ष्ण हुए दुरतया उसको पैर में चढ़ कर जाना कठिन है दुखे न अत्यवश्य ऐसे रास्ता है तो उस पैर के जा नहीं सकते दुर्गम पथ यत कवय वदंती ये दुर्गम दुसंपादे है ज्ञान मार्ग इसे कवि क्रांतिदर्शी लोग कहते हैं अर्थात प्रमाद नहीं करके अप्रमत्त होकर के प्रयत्न पूर्वक चलने से ही पार कर सकते हैं इसलिए अप्रमत्त होकर के प्रयत्न करो ऐसे जीवन को बर्बाद नहीं करो श्रुति भगवती उपदेश करती है यतः कृतकृत भवति अतः भाष्य में तदर्शनार्थम उसके ज्ञान के लिए दर्शन शब्द का तो ज्ञान आत्मा बारे द्रष्टव्य दृष्टि दर्शन चाक्षुष ज्ञान के लिए प्रयोग होता है लोग किंतु सामान्य ज्ञानार्थक है ज्ञान प्राप्ति के लिए अनादि अविद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत उठो अनादि अविद्या से सोया हुआ अनादि जो अविद्या उस्तया प्रसुप्ता प्रकर्षण सुप्ता सोए हुए अज्ञान निद्रा से सोए हुए अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्धते अनादि माया से सोया हुआ गुरु उपदेश से जब जागता है अजम अनिद्रम असपनम अद्वैतम बुद्धते तदा अद्वैत ज्ञान को प्राप्त करता है अनादि अविद्या से सोया हुआ का अर्थ अविद्या के अधीन है निद्रा के सोया हुआ निद्रा के अधीन कुछ बाहर कुछ नहीं जान पाता है इस प्रकार अनादि जो अनिर्वचनीय अविद्या है उसके अधीन है उत्तिष्ठत हे जंतव श्रुति संबोधन करते सारे जीव को उत्तिष्ठत उठो उठने का क्या अर्थ है आत्मज्ञान अभिमुखा भव भवत बहुवचन आत्मज्ञान के लिए अभिमुख हो जाओ खाली उठकर बैठ जाना नहीं जग करके बैठ करके इसे समय नष्ट कर दे कोई उठकर उठता गए किंतु फिर लेटे रहते हैं उठेंगे जगेंगे जगेंगे उठ गए बैठ गए हां स्नान करेंगे तो चलो कोई बात नहीं आज तो छुट्टी है <laughs> करेंगे करेंगे तो बोला अभी कोई जगने से स्नान करने से कोई तो मिलने वाला नहीं कुछ खाद्य मिलने वाला नहीं क्यों <laughs> स्नान करेंगे कुछ मिलना हो तो स्नान कर चलेंगे कुछ मिलने में क्या स्नान करना है मंदिर में नहीं गए तो कह देंगे सातकरा पे तो <laughs> तैयार है उत्तर उत्तर बिल्कुल इतने बोलते बोलते उत्तर कोई सोचते सोचते इतने दृढ़ हो जाता है वही सामने आ जाता है पहले वही उपस्थित होता है बाद में भगवान इसी प्रकार जितने है अभ्यास में बहुत आ गया विपरीत भावना दुर्गुण उसको समाप्त करके उठ का था आत्मज्ञान अभिमुख हो आत्मज्ञान का अभिमुख का क्या अर्थ है ईश्वर अर्पित कर्म सेवा आदि करके चित्त शुद्धि को प्राप्त करो चित्त शुद्धि होने से वैराग्य होता है विविधिशा होती जिज्ञासा इसी क्रम से श्रवण आदि परक हो ये अन्य टीका है गोपाल यतीन्द्र टीका आदि में व्याख्यान किया गया आत्मज्ञान का अभिमुख हो अभिमुख होता क्या है उधर बैठ करके देखे ना सत्संग की तरफ कमरा में बैठ करके यही कर्म उपासना करके चित्त की शुद्धि जिज्ञासा प्राप्ति के करके श्रवणादि परक हो वही श्रवण मनन करते रहो जागृत और जागृत का अर्थ अज्ञान निद्राया अज्ञान रूप निद्रा से जगो सब समझते तो हम सोए जगे श्रुति कहते जाग जाओ अर्थात सोए हुए अज्ञान निद्रा से घोर रूपाया ये जो अज्ञान निद्रा ये सामान्य नहीं है सामान्य निद्रा तो जग जाते हैं अपने आप जग जाते सोना चाहेंगे तो भी नींद नहीं लगी किंतु ये घोर निद्रा है दुख बहुल है दुख बहुत है सोया हुआ है जगना बड़ा कठिन है सर्वानर्थ बीजभूतया सारे अनर्थ का बीजभूत अज्ञान निद्रा अज्ञान है सारे अनर्थ का बीज कारण है उससे से अनर्थ होता है क्षय कुरुत भूत का क्षय करो नष्ट करो कैसे नष्ट करेंगे कथम प्राप्य वरा निबोधत प्राप्य का तो उपगम्य समीप में जा करके समीप में जाने का तो शिष्यत्व है ना उपपूर्वक जहाँ गम धातु गत्यर्थक धातु उपसत्ति उपगम उपयानी उपया सब शिष्यत्व ने जाना उपते यानी दृप्त बालक कहता है जात उपते यानी ते उपयानी उपपूर्वक गत्रियत अथ धातु जगुण से शिष्य रूप से जा करके नम्रता पूर्वक शिष्यत्व ने जा करके वरान वरे श्रेष्ठ प्रकृष्टान प्रकृष्ट आचार्यान आचार्य के पास जा करके आचार्य कौन होते तद्विद तद्विद उस जानने वाले ज्ञानी के पास जा करके के तत्पदिष्टम सर्वांतरम आत्मानम अहम अस्मिति निबोधत अवगछत उनके द्वारा उपदिष्ट गुरु उपदेश के बिना सद्गुरु ज्ञानी के उपदेश के बिना ज्ञान नहीं होगा प्रोक्ता अन्य नैव सुज्ञानाय पृष्ठ उपदिष्ट सर्वांतरम सर्वांतरे आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है सब के अंदर है सर्वांतर सब के अंदर है बाहर भी है सर्वांतर सबसे अंतर है आत्मान आत्मा है केवल देह में परिचिन्न नहीं है व्यापक आत्मा सर्वांतर सर्वांतर आत्मा को समझो अहम अस्मिति सब को मालूम अहम अस्मिति सब को मालूम है तो हम है जानते हैं किंतु अहम अस्मि कह करके देह को लेकर के अहम अस्मि नहीं करो जो सर्वांतर व्यापक आत्मा अहम अस्मि व्यापक आत्मा में हूं इसी ज्ञान को प्राप्त करो इति निबोधत निबोधतगा दवचत ज्ञान को प्राप्त करो नहीं उपेक्षितव्यम इति श्रुतिर अनुकंपयन आह मातृवत अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वाद ज्ञस्य नहीं उपेक्षितव्यम इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए उपेक्षा प्रमाद करके जीवन को बर्बाद नहीं करो बार-बार मन से जन्म नहीं मिला एक बार मिला है अभी संभावना है प्रयास करने से प्राप्त कर सकते संसार अनादिकाल से जो प्रवृत्ति है दुख का अत्यंत को उच्छेद कर सकते हैं कोई भी कर सकता है उसके लिए कोई नहीं अपिचेत सुद्राचार भजति मां मनने भगवान कहते हैं जितने भी पर पाप कर्म कर लिया दुर्गुण ये सब छोड़ करके प्रयास करे तो कोई भी प्राप्त कर सकता है इसलिए श्रुति में शास्त्र में बार-बार कहते हैं नहीं उपेक्षितव्यम इति श्रुति कहती अनुकंपया कृपा से अनुकंपा कृपा करके कहते मातृवत माता जैसे बच्चे के हित चाहती ये श्रुति तो सतह माता से बढ़ करके अत्यंत हित चाहने वाले मातृवत कहते अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वा विज्ञस्य आदर के द्वारा श्रुति क्यों कहती उठो क्योंकि ये अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वा ज्ञ जो आत्मा है सर्वा सर्वांतर आत्मा अति सूक्ष्म बुद्धि का विषय है ऐसे स्थूल वासना वाली बुद्धि मलिन बुद्धि से ज्ञान ज्ञान नहीं होगा बाह्य विषय वासना को छोड़ करके अति सूक्ष्म तीक्ष्ण होने पर शुद्ध होने पर ही संस्कृत बुद्धि का विषय सूक्ष्म बुद्धि का विषय पहला आया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी सूक्ष्म बुद्धि का विषय है इसलिए प्रमाद नहीं करके उपेक्षा नहीं करके प्रयत्न करो और सूक्ष्म बुद्धि होने से अवश्य ज्ञान होगा ज्ञान से आगे कैसे सूक्ष्म है यहाँ विराम चाहिए यहाँ मातृवत का विराम नहीं चाहिए कम स्वल्प विराम चाहिए अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वा ज्ञस्य अनुकंपया आ मातृवत अन्वय होगा किमिव सूक्ष्म बुद्धि इति उच्यते कैसे किस के समान सूक्ष्म बुद्धि तो ये प्रश्न आकांक्षा करके उत्तर देते किम उच्यते क्षुरस्य धाराग्रम निशिता तीक्ष्णीकृता दूरतया दुःखेन अत्यवस्या सा दूरतया क्षुरस्य धारा क्षुर है नापित बाल बनाता है तो क्षुर लेकर के क्षुर है उसके धारा है अग्रम निशिता सामान्य चाकू है चाकू है उसे बाल करना नहीं होगा उसमें तो ये फल आदि अमन्या करते हैं बाल को निकालने के लिए तो क्षीर है और तीक्ष्ण है इच्छा को लेकर देखो बाल नहीं कटेगा क्षीर है अत्यंत तीक्ष्ण है उसका धार अगर निशिता करता वो भी बाल काटते समय कभी-कभी घिसता है तीक्ष्ण करता है उसे घिस कर तीक्ष्ण करने से ही होता है उसके समान है क्षीर से धारा इसी प्रकार है तीक्ष्ण कृता दूरतया उसके मार्ग है दूरतया दुखे न अतवस्या उसमें जाना पार करना बड़ा कठिन है सा दूरतया कैसे दूरतया उसमें दृष्टांत देते हैं यथा सा पद्भ्याम दुर्गमनिया तथा यथा सा क्षीर की धारा है तो जिस प्रकार दुर्गमन्य उसमें चलना जीते कठिन है पाद के द्वारा कट जाएगा थोड़ा लगन से कट जाएगा तथा दुर्गम दुसंपाद्यम इसे दुर्गमनम दुसंपादे आत्मज्ञान इस प्रकार संपादन करना प्रयत्न पूर्वक करने से होता है ऊपर ऊपर से नहीं अत्यंत श्रद्धा तत्पर होकर के लगे निश्चय करके प्राप्त करना है तब प्राप्त हो सकता है बाह्य विषय वासना छोड़ करके जैसे साधन शास्त्र में कहे गए सब साधनों को अपनाए प्रयत्न करे तो प्राप्त होता है दुसंपाद्यम दुखेन संपादनम अस्य वही दुख है विषय की इच्छा होती मन भागता है उसको रोकना बड़ा कठिन होता है बाहर विषय चिंतन करना बड़े आनंद उसके लिए प्रयास करना नहीं पड़ता है अपने आप मन दौड़ता है बाहर मन को लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है कुछ नहीं उसको रोकने के लिए प्रयास करते मन भागता है इंद्र भी दौड़ती है इधर-उधर देखने के लिए सोचना नहीं पड़ता देखूं कुछ आओ जो तुरंत उधर घूम जाता है वो क्या हो गया कुछ हो नहीं कोई अभी व्याघ्र आ जाएगा सिंह आ जाएगा इधर कोई होता क्या है क्या है कुछ नहीं दरवाजे बंद हुए तो भी क्या हो गया इधर उधर ध्यान कर बैठा थोड़ी कुछ होता इधर उधर देखना चलते समय पढ़ते समय मंत्र पाठ करते समय श्लोक पाठ करते समय गीता पाठ करते समय इधर उधर देखना आदत इतने है शांति पाठ के समय भी थोड़ा आंख बंद कर बैठना भी बड़ा कठिन है कभी छात्र को कभी बाएं कभी दाएं कभी इधर उधर देखना पड़ता है ये सब जो देखने का है वो स्वभाव तो होता है रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है इसलिए दुसंपाद्य का अर्थ है इसी प्रकार जो स्वभाव जैसे पानी बह जाता है नीचे वो चल जाता है नीचे बहाने के लिए कोई उपाय नहीं करना जरूरत है पानी डालो नीचे बह जाएगा रोक रखना है विपरीत दिशा में लेना तब तो प्रयास करना पड़ता है पानी डालो जहाँ नीचे है तो पानी अपने बह जाता है रुकने के लिए प्रयास करना पड़ता है ये इंद्रियों की गति बाहर की ओर है उसको रोकना मन को विषय से हटाना ऐसे प्रयास करने से थोड़ा पहले कठिन होता है दुसंपाद्यम इतेतत पथ पथत पंतानम कौन मार्ग है तत्व ज्ञान लक्षण मार्गम ये मार्ग है तत्व ज्ञान रूप तत्व ज्ञान में लक्षण वैसे तत्व ज्ञान जिसका स्वरूप तत्व ज्ञान ही मार्ग है किंतु वस्तुतः ये राजमार्ग है तत्व ज्ञान श्रेष्ठ मार्ग वेदांत मार्ग वेदांत मार्ग में चलने पर तत्व ज्ञान प्राप्त होता है ये दुसंपाद है जरूर बहिर्मुख है विषय वासना है इस मार्ग में चल नहीं पाएगा पैर नहीं रख पाएगा जैसे अंतकण शुद्ध होता है जितने कर्म सब वैदिक कर्म शास्त्रीय कर्म अभी नहीं हो पाता है किंतु अनादि काल से जीव है कितने कर लो कर लो कल्प में कितने कितने जन्म हो गया कितने कर्म किया है कर्म सब का है तभी आगे वेदांत श्रवण करने की इच्छा होती प्राप्ति होती है परमात्मा की कृपा से नहीं तो प्राप्त नहीं होता है प्राप्त होने के बाद यदि थोड़ी रुचि होती समझ आता है समझिए बहुत पुण्य का फल है अभी पता नहीं चलता है क्या पुण्य है क्या नहीं है जब थोड़ा प्रयत्न करेंगे वही पुण्य सहायक होकर के आगे सहायक होता है तो आगे प्रवृत्ति होती है ये नहीं सोचे कि मैं तो अब इस जन्म में कुछ पुण्य कर्म नहीं किया पुण्य कर्म नहीं हो तो वेदांत श्रवण प्राप्त नहीं होगा थोड़े श्रवण कर भी नहीं सकता है अनेक जन्म पुण्य पुंज फल देता है तो तभी परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है प्राप्त होने पर भी बहुत लोग श्रवण नहीं कर पाते हैं श्रवण प्रारंभ करने पर ही छोड़ देते हैं और नहीं तो श्रद्धा नहीं होती तो ग्रहण नहीं होता है श्रवण भी विधिवत नहीं करते श्रवण करते रहे तो कुछ लाभ नहीं होता है ग्रहण नहीं होता है बहुत लोग श्रवण बहुत दिन कर लिया हो सकता है कोई पढ़ा भी दे प्रवचन कर ले किंतु प्राप्त तो कुछ नहीं होता है विधिवत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करने के लिए श्रवण आदि करने पर प्रयास करता है तो प्राप्त करता है इसलिए यह अभी जो प्राप्त हो रहा है जितने मिला है ये अनेक पुण्य का फल है अनेक जन्म के पुण्य का फल है प्रयास करने पर आगे प्रगति होती है आगे प्रयास करना पड़ता है दुसंपाद्य ये मार्ग फिर भी ये मार्ग में चलने पर प्रयास करे तो ये श्रेष्ठ मार्ग है राज मार्ग इस मार्ग में जाना ही पड़ता है ज्ञान प्राप्त करना मोक्ष प्राप्त करना है तो और कोई श्रेष्ठ मार्ग अंतरंग और कोई सरल जितने सरल साधन सब है अंतकरण शुद्धि के लिए परमात्मा प्राप्ति के लिए ठीक है बहुत प्रकार कहेंगे बड़ा प्रेम से प्राप्त हो जाएगा भक्ति से प्राप्त हो जाएगा बहुत अच्छा है कहना का अच्छा है किंतु जैसे भक्ति परमात्मा प्राप्ति का साधन है वो भक्ति कोई सामान्य नहीं अन्य इच्छा को छोड़ो तभी भक्ति है अन्य इच्छा है तो ईश्वर की भक्ति नहीं है पूरा वासना निर्वासन होकर के वही परम प्रेम परम प्रेम है खाली प्रेम शब्द से कहने नहीं होता है अन्य कुछ भी नहीं चाहिए तभी परम प्रेम यदि दोनों तरफ प्रेम है तो प्रेम कहाँ है प्रेम एक तरफ हो अन्य नहीं है तो परम प्रेम इसी प्रकार ज्ञान मार्ग के लिए राजमार्ग है उसकी उपेक्षा नहीं करके दुर्गमते तो है तो उसमें चलने के लिए प्रयास करना चाहिए कवयो वदन्ति कवि एकांतदर्शी मेधावी बुद्धिमान ज्ञानी लोग कहते हैं ये क्यों इसको कहते हैं दुसंपाद्य ज्ञेयस्य से अति सूक्ष्मत्वाद ज्ञेय ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म है तद विशेष ज्ञान मार्ग से दुसंपाद्यतम ज्ञेय सूक्ष्म होने के कारण स्थूल वस्तु तो दिख जाती है सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए प्रयास करना पड़ता है रास्ता में पत्थर गिरा हुआ कुछ बड़े पदार्थ दिख जाता है कोई छोटे पदार्थ गिर गया तो ढूंढना पड़ता है कैसे भूषण अलंकार आदि में कुछ थोड़ा छोटा गिर जाता है तो ढूंढ देखना पड़ता है अति सूक्ष्म वस्तु होने से प्रयास करना पड़ता है निरंतर प्रयास करे प्राप्त होने तक तद विशेष ज्ञान मार्ग से दुसंपाद्यत्वम बदंती तद विषय कस्य सूक्ष्म ब्रह्म है ब्रह्म को विषय करने वाले जो ज्ञान मार्ग दुसंपाद्य क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है ऐसे कहते हैं वदंती ज्ञानी लोग कहते हैं अर्थात उसकी उपेक्षा नहीं करके प्रमाद नहीं करके प्रयास करे प्रयत्न पूर्वक प्रयास करे तो अवश्य प्राप्त होगा सूक्ष्म सुन करके अनुरणीयान सूक्ष्म है सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है ये सुन करके कुछ लोग मानते बहुत छोटा ही होगा इसे सूक्ष्म क्या इसे कैसा आगे बताते हैं तत्कथम अति सूक्ष्मत्वम ज्ञेय से उच्यते ज्ञेय ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म होने से उसका ज्ञान को दुसंपाद्य कहते हैं ज्ञेय सूक्ष्म होने के कारण ज्ञान दुसंपाद्य ज्ञेय वस्तु अत्यंत सूक्ष्म है दुसंपाद्य है इसलिए प्रयत्न करके प्रमाद को छोड़ करके प्रयत्न करो प्राप्त होगा प्राप्त करो उपेक्षा नहीं करनी चाहिए श्रुति कहती है तत् कथम अति सूक्ष्मत्वं ज्ञस्य ज्ञेय ब्रह्म अति सूक्ष्म कैसे है ये उत्तर देते हैं टीका में यावत यावत गुणापचेस तावत तावत तावत तारतम्येन शौचम दृष्टम पृथिव्या पृथिव्यादिषु परमात्मनि तो गुणानाम अत्यंताभावान निरतिशयम सौक्षम सिद्ध्यति त्याह यावत यावत गुणापचय गुण कम जितने जितने होते जाए तावत तावत तारतमेन सूक्ष्म दृष्टम प्रतिवादिषु प्रतिवाद में सूक्ष्म तो दिखा गया इतने इतने घट आदि कार्य से मिट्टी पृथ्वी उसका कारण सूक्ष्म है घट में आकार नाम रूप आदि अलग है सब नष्ट हो गया घट का लय घट आदि वृक्ष आदि सब पृथ्वी में लीन होते हैं और पृथ्वी में गंध है और एक गंध का अभाव हो गया जल में गुण का अपचय ह्रास हुआ गुण कम हुआ जल में जल पृथ्वी के विचार सूक्ष्म है जल में रस है वो रस तेज में नहीं जल की अपेक्षा तेज सूक्ष्म है उसकी अपेक्षा रूप नहीं होने से वायु और सूक्ष्म है वायु में स्पर्श है स्पर्श नहीं आकाश में उससे और सूक्ष्म है इसी प्रकार तारतम्य न तरतम भाव न तरतम भावत सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम तरतम तरप तम प्रत्यय होता है तरतम से भाव तारतम्यम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर फिर सूक्ष्मतम इसी प्रकार जितने जितने गुण कम हो इतने इतने सूक्ष्म तम दिखा गया पृथ्वी आदि में आदि से जल तेज हो परमात्मा ने तो गुणानाम अत्यंत अभावाद आकाश में शब्द है रूप रस गंध स्पर्श नहीं है परमात्मा में शब्द भी नहीं है गुणानाम अत्यंत अभावाद कोई गुण नहीं साखी चेता केवल निर्गुण से निर्गुण है गुणों का अभाव होने से निरतिशम सौक्ष्म सिद्ध्यति निरतिशय सूक्ष्म है परमात्मा शुद्ध अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म का तो छोटा परिमाण वाला ये नहीं है व्यापक है स्थूला स्थूला तावत यम मेदिनी ये पृथ्वी स्थूल है शब्द स्पर्श रूप रस गंधो गंधोपचिता सर्वेन्द्रिय विषय होता तथा शरीरम शब्द स्पर्श रूप रस गंध से उपचित उपचय को प्राप्त की वृद्धि को प्राप्त हुई कठिन सर्वेन्द्रिय विषय होता सर्वेंद्रिय विषय होता कैसे चक्षु का विषय है पृथ्वी हैं <laughs> कभी कोई संशय कर मना कर दे <laughs> पृथ्वी का तो मिट्टी है सारा पृथ्वी बड़ा एक दिखेगा ऐसा नहीं जैसे ग्लोब पृथ्वी तो इंद्र का विषय स्पर्श इंद्र से ग्रहण होता है और किस इंद्र से ग्रहण होता है पृथ्वी का ग्रहण होता है रसनिंद्र द्रव्य ग्राहक है न्याय मत के अनुसार द्रव्य ग्राहक नहीं है किंतु वेदांत में रस को ग्रहण करने वाले गंध को ग्रहण करने वाले इंद्रिय है गंध और पृथ्वी रस और पृथ्वी ये गंध गुण और द्रव्य इसमें तादात्म्य है गंध कोई पृथ्वी से अलग नहीं है गुण गुणी में तादात्म्य मान करके ऐसे गंध का ग्रहण होता है तो गंध आश्रय पृथ्वी का रस ग्रहण होता है तो रसाशय शब्द ग्रहण होता है पृथ्वी में शब्द है हाँ तार्किक लोग तो कहे कहीं आकाश में शब्द किंतु आकाश में शब्द है तो उसका कार्य वायु में भी शब्द है उसका कार्य वन्य में भी वनो भोगो भोगो ध्वनि जल में बुलु बुलु और भूमो कड़ा कड़ा शब्द पंचदश में बताते हैं पेड़ टूटता है तो कड़कड़ा आवाज जो होता है जल में शब्द है ये शब्द ऐसे आकाश का गुण उसके गुण रहेगा कार्य में रहेगा और वायु का गुण स्पर्श उसका गुण तेज जल पृथ्वी में गुण गुण में तादात्म्य करके सर्व इंद्रिय ग्राह्य बताया सर्व इंद्रिय विषय होता तथा शरीरम भी स्थूल है पृथ्वी का पार्थिव शरीर पृथ्वी अधिक है तत्र एक एक गुणापकर्षण गंधादि नाम सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व नित्यत्वादि तारतम्यम दृष्टम अबादिषु यावद आकाश यावद आकाशमिति आकाशमिति एक एक गुण अपकर्षण है एक गुण कम हो जाएगा गंध नहीं है जल में जल में गंध नहीं जल में यदि कभी सुगंध दुर्गंध ग्रहण होता है पृथ्वी के संबंध से कुछ पृथ्वी पार्थिव द्रव्य मिलाया तो चंदन आदि डाल दिया चंदने काष्ठे पृथ्वी डाल दिया तो सुगंध होगा इसी प्रकार कोई दुर्गंध हो तो दुर्गंध होता है जल में गंध नहीं है गंध नहीं है सूक्ष्म हो गया पृथ्वी से जल और जल का जल में रस है तेज में रस नहीं है रस कम हो गया एक एक गुण कमते होते होते सूक्ष्मत्वम कारण कार्य के अपेक्षा महान है महत्वम कारण बहुत है कार्य छोटा घट छोटा है विशुद्धत्वम कारण शुद्ध है कार्य में नाम रूप है विशुद्ध है कारण और कार्य के बिना कारण रह सकता है घाट को तोड़ दें तो मिट्टी रहती सुवर्ण का कुंडल मुकुट आदि बनाया तोड़ेंगे तो सोना रहेगा अधिक समय कार्य रहता है कारण रहता है कार्य बन गया तो कारण रहेगा कार्य बनने पर भी कारण रहता है कार्य को तोड़ेंगे तो कारण रहेगा इसलिए कारण अधिक समय रहने से कार्य की अपेक्षा कारण को नित्य कहते हैं नित्य तो ये अनित्य है कार्य कारण उसी की अपेक्षा अधिक समय रहता है उसकी अपेक्षा अधिक समय रहने से नित्य तो आदि विशुद्धत्व नित्यत्व व्यापकत्व ये ये सब तारतम्य में दृष्टम दिखा गया अबादिसु अबादिसु मतलब अर्थात जल आदि में जलादि में सूक्ष्म दिखा गया कहाँ कहाँ दिखा गया यावद आकाशम आकाश तक पृथ्वी से सूक्ष्म जल जल से सूक्ष्म तेज तेज से सूक्ष्म है वायु वायु से क्या गुण काम है आकाश में स्पर्श स्पर्श नहीं आकाश में कितने गुण गंध से लेकर के केवल शब्द है और वायु में कितने गुण है क्या क्या सब दस वर्ष और जल में कितने गुण है चार क्या नहीं है गंध नहीं हाँ इसी प्रकार गुण कम कम होकर गया आकाश तो सबसे सूक्ष्म है उसकी अपेक्षा वायु थोड़ा तुल हो जाएगा यावद आकाशमिति ते गंधादय सर्वैव स्थूलत्वादि कारणा शब्दांत यत्र न संति किमु तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वं वक्तव्यम् इति दर्शयति श्रुतिः ये जो गंधादि गुण कम होते जाने से होने से जल आदि में धीरे-धीरे सूक्ष्म सूक्ष्मतर हुआ ये गंध रस रूप स्पर्श शब्द पांच गुण सर्वे स्थूलत्व आदि कारण शब्दांता गंधादय शब्द अंत ये शाम कितने हो जाएंगे स्थूलत्व आदि कारण स्थूलत्व स्थूलत्व आदि स्थूलत्व सूक्ष्मत्व सूक्ष्मतरत्व सूक्ष्मतमत्व ये स्थूलत्व आदि स्थूलत्व आगे सूक्ष्मत्व आगे सूक्ष्मतरत्व आगे सूक्ष्मतमत्व स्थूलत्व आदि नाम कारणा स्थूलत्व आदि कारणा कारणे ज्ञापक स्थूलत्व आदि का ज्ञापक शब्दांता शब्द तो यत्र न संति जहाँ एक ही भी नहीं है किम तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वम वक्तव्यम इसमें क्या कहना है आकाश सूक्ष्म हुआ गंध रूप चार गुण के अभाव एक गुण रह गया वो भी गुण नहीं है जहाँ सूक्ष्मत्वम आदि से महत्व विशुद्धत्व नित्यत्व आदि क्या कहना है किम वक्तव्य निरतिशयत्वम निरतिशय सूक्ष्म निरतिशय शुद्ध सबसे बढ़ करके नित्य क्या कहना है इति तद श्रुति दर्शयती इसको श्रुति दिखाती है अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत अनाद्यनंतम हत परम ध्रुवम निचाय तन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते अशब्दम अविद्यमान शब्द यस्मिन यस्य जिसमें शब्द है ही नहीं अस्पर्शम स्पर्श भी नहीं रूप नहीं इसलिए अव्ययम विकार विनाश को प्राप्त नहीं करता है तथा अरसम रस भी नहीं नित्यम अगंधवच्छयत जो गंध वाला नहीं है अनादि अनंतम अनादि और अनंत आदि उसका कोई कारण नहीं अंत भी नहीं होता है कार्य में होने पर कारण का अंत कहते आदि अंत में उत्पत्ति नाश नहीं अर्थात उसका कारण नहीं कार्य भी नहीं कदली वृक्ष में फल आ जाएगा कार्य हो गया तो वृक्ष नष्ट हो जाता है इसी प्रकार ये काय कारण रहित है महत परम ध्रुवम महत तत्व है समष्टि बुद्धि बुद्धि में रहने गर्भ उसे परम ध्रुवम नित्य है निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते तत् निचाय ज्ञात्वा साक्षात्कार करके मृत्यु मुख से मुक्त हो जाता है मृत्यु मुख से काम कर्म विद्या रूप मुक्ति से रहित हो जाता है मुक्त हो जाता है जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाता है अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम भाष्य में तथा रसम नित्य मगंधवच्चयत एतद व्याख्यातम इसके व्याख्यान है शब्द स्पर्श आदि रहित ब्रह्म अव्ययम ए ब्रह्म है अव्यये यदि शब्दादिमत तद वेति इदं तो शब्दादिमत्वाद अव्ययम न व्यति न क्षयते व्यय को प्राप्त नहीं करता है विकार को प्राप्त नहीं करता है जो शब्दादि वाला वाला होगा वो व्येति विपरीतम एति व्येति बी एति विरुद्धम गच्छति विकार को प्राप्त करता है नष्ट होता है न व्यय होता है ये इदम तो अशब्दादिमत्वात् शब्द स्पर्शादि यही नहीं इसे इसका व्यय नहीं होता अव्ययम न व्यति त न क्षयते क्षय नहीं होता है अतएव च नित्यम क्षय नहीं होता है तो नित्य यदि व्यति तद अनित्यम इदं तो न व्यति अतो अनित्यम जिसका क्षय होता है व्यय को प्राप्त करता है वो अनित्य हो जाएगा इदम तो न व्यति व्यय को प्राप्त नहीं करता क्षय नहीं होता इसलिए अतो अतो नित्यम इतश्च नित्यम नित्य होने के और भी कारण है अनादि अनंतम अनादि है अविद्यमान आदि यस्य तद अनादि जिसका आदि है ही नहीं किससे समास होगा हाँ, भारती के अविद्यमान आदि से स अनादि अविद्यमान आदि अविद्यमान आदि आदि का तो कारण जिसका कारण नहीं है वो अनादि है तदिदम अनादि यदि आदिमत तत्कार्यत्वाद अनित्यम कारण प्रलियते जो आदि वाला हो कारण वाला हो उत्पन्न होता है कार्यत्वात अनित्यम कार्य होने का कारण अनित्य अनित्य कार्य कारण में लीन हो जाता है घट कारण में मिट्टी में लीन होता है इसी प्रकार अनित्य कारण कारण में लीन होगा यथा पृथ्वी आदि पृथ्वी का लय जल में जल का लय तेज में इसी क्रम से प्रलय होता है इदम तो सर्व कारणत्वात् सबका कारण है अकार्यम किसी का कार्य नहीं कार्य नहीं हो गए होने के कारण लीन कहाँ होगा कार्य लीन होगा कारण में ब्रह्म किसका कार्य है तो कहाँ लीन होगा नहीं होगा अकार्यवात नित्यम ब्रह्म कार्य नित्य है इसलिए इसका लय नहीं होगा न तस्य कारणमस्ति यस्मिन लिए प्रलियत उसका कोई कारण नहीं जिसमें लीन हो यस्मिन प्रलियते पाठ है कहीं अन्य पुस्तक में प्रलियत तो भी है गोपाल टीका में यह जिसमें लीन हो जिसमें लीन होता है उसका कोई कारण हो तो कारण में लीन होगा कारण नहीं है तथा अनंतम अनंत में इस प्रकार अविद्यमान अंतो यस्य अंत का था कार्य जिसका कार्य हो वो वो होगा शांत जिसका कार्य नहीं वो अनंत है कार्य उसका अंत होता है कारण में कार्य हो गया तो कारण का अंत क्या है यथा कदल्यादे फलादि कार्य उत्पादन है न अपि अनित्यत्वं दृष्टम न च तथापि अंतवत्वं ब्रह्मण अतो अपि नित्यम कदली वृक्ष में केला वृक्ष में फल कार्य हो गया फल हो जाने के बाद वृक्ष नष्ट हो जाएगा जितने पानी सेचन करके बढ़ाना चाहिए सड़ जाएगा नीचे से सड़ जाएगा अंदर से सड़ जाएगा फल हो गया तो और विचार नहीं रहेगा ये कार्य है अंत हुआ फलादि कार्य उत्पादन भी अनित्यत्व वृक्ष आदि दिखा गया न च तथा पे ब्रह्मण उसी प्रकार ब्रह्म में अंतवत्व नहीं है इसका कोई कार्य नहीं अंतवत्व नहीं अतो भी नित्यम से नित्य है कार्य नहीं कारण भी नहीं नित्य है महतो परम ध्रुवम महते महतत्वात् बुद्धि आख्यात जिसको बुद्धि शब्द से कही कहा गया महतत्व समष्टि बुद्धि है सारे बुद्धि को मिला करके जैसे एक एक वृक्ष अलग है सारे वृक्षों को मिला करके नाम हो गया वन सबकी बुद्धि अलग-अलग है व्यष्टि बुद्धि सबको मिला करके समष्टि बुद्धि तद उपाधि को हिरण्य गर्भ कहते हैं तो उससे विलक्षणम परम नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात् नित्य विज्ञप्ति ज्ञान स्वरूप है सर्वसाक्षी ही सर्वभूतात्मत्वात् ब्रह्म सर्वसाक्षी सर्वेषाम साक्षी सबका साक्षी एक तत्व है साक्षी है साक्षी है दृष्टा और साक्षी में थोड़ा भेद है दृष्टा होता अंतकरण विशिष्ट को दृष्टा कहते जीव साक्षी कहता अंतकरण उपहित दृष्टा को दृष्टा में अंतकरण विशिष्ट ही होता है अंतकरण रहेगा साक्षी कहीं तो उसमें अंतकरण नहीं अंतकण से भिन्न दृश्य कोटि में अंतकण आ जाएगा साक्ष्य कोटि में दृष्टा तो अंतकण विशिष्ट को लेकर कहते हैं अंतकण को अलग करके विचार करेंगे साक्षी तो भी साक्षी शब्द का प्रयोग होता है साक्ष्य कोई हो तो जागृत स्वप्न सुश्रुति आदि का साक्षी है चैतन्य साक्ष्य है तो साक्षी है साक्ष्य नहीं तो साक्ष्य नहीं रहेगा नहीं साक्षी शब्द का प्रयोग नहीं होगा साक्ष्य नहीं रहेगा तो साक्षी किसको कहेंगे किसका साक्षी होगा चेतन रहेगा प्रकाश है घट है तो दीप उसको प्रकाश करेगा और घट नहीं रहेगा तो दीप रहेगा दीप रहेगा और प्रकाशक किसका होगा कोई वस्तु है तो प्रकाशक होगा कोई नहीं तो नहीं किंतु प्रकाश तो रहेगा इसी प्रकार साक्ष्य दृश्य हो तो उसको साक्षी कहेंगे साक्ष्य नहीं रहा तो साक्षी शब्द का प्रयोग नहीं होगा चेतन रहेगा जो शुद्ध चेतन है किसी भी शब्द का वाच्य नहीं होता है किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती उसको कहने के लिए अवांग मनस गोचर वाणी मन का विषय है यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास जो जे शब्द कहते हैं आरोप करके ही शब्द प्रयोग किया जाता है शुद्ध तत्व को ज्ञान कराने के लिए ही अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते निष्प्रपंच ब्रह्म को उपदेश करने के लिए प्रक्रिया है अध्यारोप अपवाद पर अध्यारोप आरोप करना पड़ता है उसके बाद निश्चित करना है आकाश आदि की सृष्टि कही गई श्रुति में ये अध्यारोप है वास्तव श्रुति में सृष्टि में तात्पर्य नहीं है कार्य दिखता है तो अध्यारोप कर दिया ब्रह्म से इसकी उत्पत्ति हुई इसी क्रम से फिर अपवाद करने के कार्य कारण से भिन्न नहीं है कार्य मिथ्या है मित्तिका इति सत्यम ऐसे कह करके तदनन्यत्वम कार्य से कारण कारण से कार्य अलग है ही नहीं इसी प्रकार विचार करते करते अंत में परम कारण फिर सबसे एक अधिष्ठान तत्व सत्य है सब मिथ्या है अध्यस्त वस्तु को ले करके पारमार्थिक वस्तु को ज्ञान कराते हैं सर्प भ्रम होता है पिताजी गुरुजी कहते सर्प नहीं बच्चे को रज्जु है कहाँ रज्जु है कहते सर्प ही रज्जु है सर्प रज्जु कैसे होगा जिसको तुम सर्प समझते हो सर्प नहीं किंतु रज्जु यही कहने के लिए अध्यस्त सर्प का नाम लेकर के रज्जु को उपदेश करते हैं क्योंकि जब बच्चा सर्प सर्प देखकर डर रहा है रज्जु उसको सर्प को छोड़कर कहाँ दिखाएंगे कहते सर्प रज्जु है अध्यस्त वस्तु को लेकर उद्देश्य करके अधिष्ठान तत्व का उपदेश वास्तव स्वरूप का उपदेश करते हैं इसी प्रकार ये प्रपंच है मिथ्या उसको ले करके स्वरूप का उपदेश करते हैं तो इसी प्रकार क्रम से उसका ज्ञान होता है अध्यारोप अपवादाभ्याम आरोप करके बताते हैं तो कार्य कारण रहित है ब्रह्म तो भी सब को ले करके ये जगत को ले करके जगत का अधिष्ठान ब्रह्म कहते हैं साक्षी शब्द से कहते सारा प्रपंच दिखता है उसको जानने वाला ब्रह्म है सारा प्रपंच मिथ्या है तो जानने वाला क्या कहेंगे जब तो दृश्य दिखता है साक्षी तो साक्षी शब्द प्रयोग करते हैं सर्व साक्षी और जब सर्व मिथ्या निश्चय हो गया साक्षी शब्द भी प्रयोग नहीं होगा साक्षी शब्द से जिसको कहते हैं वो शुद्ध चिन्ह मात्र है सर्वभूतात्मत्वाद सारे भूत का आत्म स्वरूप है एक ही आत्मा है सारे भूत का जिस प्रकार अनेक प्रतिबिंब का एक ही बिंब एक ही बिंब का अनेक प्रतिबिंब संबंध संभव है क्या एक बिंब का अनेक प्रतिबिंब हो सकता है एक दिग रूप चेतन आत्मा का चिदाभास अनेक है बिंब रूप चेतन एक के सब का आत्मा वही है वो जो बिंब है प्रतिबिंब कितने हो सकते हैं एक बिंब का हजार हो सकते हैं हजार प्रतिबिंब से किस प्रतिबिंब का ये बिंब है बताओ सारे सब को हमारा ही हमारा है हमारा है सब का अपना स्वरूप आत्मा एक ही है एक ही है सर्वभूत के आत्म स्वरूप है वही ब्रह्म है व्यापक उत्तम ये सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते सारे भूत में स्थित है ध्रुवं च कूटस्थम नित्यम ध्रुव है स्थिर है कुटवत निर्विकार तिष्ठति नित्य न पृथ्वी आदिवत आपेक्षिकम नित्यत्वम पृथ्वी को नित्य कह दिया कार्य के पीछे कारण को नित्य घट आदि नष्ट हो गया तो पृथ्वी रहती पेड़ पौधे नष्ट होते पृथ्वी में लीन हो गए पृथ्वी से उत्पन्न है उसको अपेक्षिक नित्य कहते वास्तव नित्य नहीं है पृथ्वी के अपेक्षा जल को नित्य जल के अपेक्षा तेज को ये जो कह गया नित्य अपेक्षिक नित्य ब्रह्म तो कूटस्थ नित्य है पारमार्थिक नित्य है आपेक्षिक नहीं है उसके अपेक्षा अधिक समय रहता है तो नित्य कह देते हैं किंतु ब्रह्म ही एक नित्य है एक पारमार्थिक वस्तु तदेवम भूतम ब्रह्मात्मानम निचाय ऐसे स्वरूप जो ब्रह्म है वही आत्मा है से आदि श्रुति प्रमाण से आत्मा अलग ब्रह्म अलग नहीं वही तत्व एक ही पारमार्थिक स्वरूप जिसको क्षेत्रज्ञ का वही क्षेत्रज्ञ एक तत्व है निचाय अवगम्य तम आत्मानम उसे आत्मा का साक्षात्कार करने पर मृत्यु मुखात प्रमुच्यते मृत्यु के मुख से मुक्त हो जाता है मरण को प्राप्त नहीं करता है मृत्यु गोचराद मृत्यु के विषय मृत्यु मुखात का मृत्यु के विषय से मृत्यु के विषय है क्या अविद्या काम कर्म लक्षणात् प्रमुच्यते वियुज्यते अविद्या काम कर्म अविद्या अविद्या के कारण काम वासना वासना से फिर प्रवृत्त होकर कर्म करता है कर्म करने पर फिर फल होने के लिए शरीर प्राप्त करता है जन्म मरण को प्राप्त करता है ये सब अविद्या काम कर्म मूल कारण है अविद्या उससे अविद्या से काम संस्कार भी और वासना भी अनादिकाल से काम कर्म पुण्य पाप कर्म ये अनादिकाल से चल रहा है उसके कारण जन्म मरण को प्राप्त करता है उसकी निवृत्ति केवल अधिष्ठानभूत ब्रह्मात्मा का साक्षात्कार से उसके ज्ञान से ही प्रमुच्यते प्रकर्षण मुच्यते पूरा मुक्त हो जाता है व्युज्यते आत्मा तो असंग है उसमें कोई संबंध है ही नहीं मिथ्या अभिमान करके अपने को दुखी संसारी मानता है ज्ञान होने पर असंग चित नित्य मुक्त स्वरूप मैं हूँ ऐसा साक्षात्कार हो गया तो अत्यंत मुक्त हो गया युक्त हो गया है ही नहीं संबंध ओम सहना